बहुत चिंता में थे वे लोग तो फूल की वर्षा कर रहे थे अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृत्रस्य देहात निष्क्रांतम आत्मज्योतिरिंदमा पश्यताम सर्वदेवानाम अलोकम समपद्यत एक अद्भुत आश्चर्य की बात हुई कि वृत्रासुर के देह से एक आत्मज्योति निकली आत्मा की ज्योति जब जीव अपने स्वरूप में होता है तो वह सूर्य की तरह प्रकाशित होता है तो भगवान के समान उसका आकार होता है लेकिन उसके देह से प्रकाश निकलता है स्वरूप से तो सब लोगों ने देखा देवताओं ने विशेषकर सब लोगों ने देखा कि वृत्रासुर के देह से एक ज्योति निकल रही है और ज्योति निकल करके देखते देखते अलौकिक जगत में चली गई मतलब प्राकृत जगत से परे भगवान के धाम में चली गई ज्योति इसका अर्थ यह है कि वृत्रासुर भगवत पार्षद बनकर वैकुंठ में भगवान की नित्य सेवा में चले गए अलोकम वैकुंठ को अलोक कहा गया है प्रकृति के गुणों से वो परे है चिन्मय है दिव्य है उस धाम में भगवान विराजते हैं और बड़े बड़े भाग्यवान व्यक्ति यहां से शरीर छोड़कर अपने स्वरूप में होकर भगवान की सेवा में जाते हैं तो वृत्रासुर भगवान की सेवा में गया यह अध्याय का अंतिम श्लोक है तब शिल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तेरहवें अध्याय शुरू में कि वृत्रे हते त्रयो लोका बिना शक्रेण भूरिद सपाला भवन सद्यो बीज्वरा निर्वृतेन्द्रिय वृत्रे हते वृत्रासुर के मारे जाने पर तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं वे सब सुखी हो गए लेकिन बिना सक्रियण इंद्र को छोड़कर सब सुखी हो गए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सब लोग जब सुखी हो गए तो इंद्र को कैसे दुख हुआ कि सब लोग तो सुखी हो गए इतना बड़ा उत्पाती मारा गया लेकिन अब हत्या का पाप तो इंद्र पर लगेगा कई बार ऐसा दिखाया था मान लीजिए कई लोग मिलकर के किसी को इंस्टिगेट किए हो कि तुम मारो मारो लेकिन वो व्यक्ति मार देता है तो उसी को पकड़ा जाता है और सब भाग जाते हैं पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमारा नाम आवे कि ये भी था उकसाने में इंस्टिगेट <laughs> करने में तो सब लोग तो अपने अपने घर चले गए इंद्र को बहुत दुख हुआ वृत्रे हते त्रयो लोका बिना भूरी भूरिदत्त इंद्र के बिना तीनों जगत के जितने प्राणी थे देवता वगैरह अपने अपने स्वामियों के साथ बिज्वरा यह भगवान बिना ज्वर के हो गए उनका ज्वर चला गया ज्वर मतलब मनोदुख कोई शरीर में ताप नहीं बढ़ा हुआ था ज्वर का अर्थ होता है फीवर तो वो सब बिना बुखार के हो गए बुखार खत्म हो गया उनका बुखार मन में था जो भय था वही ज्वर था चिंता लगी हुई थी कि कब मर जाएंगे कब आकर मार देगा वृत्रासुर लेकिन जब मर गया तो सब लोग सुखी हो गए इंद्रिया उनकी इंद्रियां सुखी हो गई लेकिन बिना सक्रिय में एक शक्र को छोड़ करके तो महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव स्वामी एक और श्लोक कहते हैं देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रति जगमुहुषो ब्रह्मेश इंद्रादय स्तः देवता ऋषि पीतर और भी जीव दैत और देवताओं के अनुगामी गंधर्व आदि वे सब लोग स्वयं प्रति जगमु अपने अपने घर स्वयं चले गए यहाँ स्वयं का अर्थ है कि किसी ने भी इंद्र से कहा नहीं कि मैं घर जा रहा जब ही वृत्रासुर मरा तभी जो जहां थे वहीं से अपने घर भाग गए कोई इंद्र से पूछा नहीं कि अच्छा तो हम चलते हैं वो सब जानते थे कि अब तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा इतना बड़ा वैष्णव मारा गया है ब्राह्मण मारा गया है तो अब तो इंद्र को भोगना पड़ेगा और यदि हम पूछने जाते हैं इंद्र से अगर जाते हैं बाई बाई करने जाते हैं <laughs> अगर पूछने तो ये पता लगेगा कि ये मिल करके गया था इसका मतलब व्रतरासुर को मारने में इसका भी हाथ है इंद्र को उकसाने में भी रहा है तो कोई नहीं पूछा जो तमाशा देख रहे थे इधर उधर से देवता सब चुपके से भागे यह स्वयं शब्द का प्रयोग स्वयं अर्थ विदाउट आस्किंग पूछे नहीं सब चले गए without asking permission from Indra स्वयं शब्द का अर्थ प्रभुपा जी लिखते हैं अब लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम इंद्र के पास भी जाएंगे तो ये बात तो संसार में फैलेगी कि ये भी मिला हुआ था ये भी गया था इंद्र के पास इसीलिए वो लोग स्वयं भाग अपने अपने घर चले गए देवता ऋषि पितर भूत दैत देवानुग मतलब गंधर्व आदि जक्ष आदि सब चले गए प्रति जगमु स्वधिष्ण और कहाँ गए लोग अपने अपने घर चले गए इस घटना के समय अगर छानबीन हो तो पता लगे कि मैं तो अपने घम घर पर था उनको क्या मतलब है वृत्तासुर मारा जाए क्या और जबकि सब देखने आए थे सबने इंद्र को कहा था कि मारिए मारिए उस खल को मारिए और महर्षियों ने तो यहां तक कहा था कि देखो अगर अश्वमेध यज्ञ करोगे भगवान की पूजा करोगे तो ब्राह्मण सहित सारे विश्व का वध करके भी तुम मुक्त हो जाओगे ये तो खल है इसको मारने में क्या इसको तो मारने में कोई पाप लगेगा ही नहीं आप क्यों डरते हो मारो और हम लोग हैं ना हम लोग अश्वमेध यज्ञ करेंगे मुक्त कर देंगे जब इंद्र ने मार दिया तभी चुपके से सब भाग गए अब काहे को अश्वमेध जग करने जाए करने जाए बेचारे इंद्र तो एक हजार वर्ष तक इन्हें बिना खाए पिए बिताना पड़ा वो कथा आ रही है तो महाराज परीक्षित पूछते हैं जो सब लोग चले गए ब्रह्मा जी चले गए शंकर जी चले गए इंद्र भी चले गए तो यहां इंद्र के मतलब इंद्र घर नहीं गए अथवा गए भी होंगे तो हो सकता है अपनी पत्नी से मिलने गए होंगे कि अब तो हम भाग रहे हैं हम जाना चाहते हैं हमने ब्राह्मण का वध कर दिया एक वैष्णव का वध कर दिया है अब क्या होगा तो फिर सब लोग तो अपने अपने घर गए तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इंद्रस्य निर्वृतिर हेतु श्रोतुम इच्छा में भो मुने हे मुने इंद्रस्य और निवृत्तिर हेतु इंद्र के दुख का कारण श्रोतुम इच्छा में मैं सुनना चाहता हूं इंद्र को क्या दुख हुआ जेनाशन सुखिनो देवा हरेर दुखम तो भवत जिस कार्य से मृत्रासुर के वध से जब सारे देवता सुखी हो गए तब तो इंद्र को और ज्यादा सुखी होना चाहिए था क्योंकि उनका शत्रु मारा गया उनको तो खा गया था उनको निगल गया था तो सबसे अधिक सुख तो इंद्र को होना चाहिए शत्रु के मारे जाने पर और आप कहते हैं कि सब लोगों को सुख मिला सब लोग सुखी हुए लेकिन इंद्र को दुख हुआ क्यों एक दुख हम कुत हुआ हरि को इंद्र को दुख क्यों हुआ कृपया बताइए इति श्रोतुम इच्छा में मैं इस बात को सुनने का इच्छुक हूं कि इंद्र को क्यों दुख हुआ <coughs> तब तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान इंद्र एक बार एक ब्राह्मण का वध किए थे विश्वरूप का तो विश्वरूप का वध किए थे तो अपने पाप को चार चार हिस्सा में करके चार लोगों को किसी तरह बांटा इंद्र ने स्वयं कहा जब मुनियों ने कहा कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए तो वृत्रासुर ने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा एक बार विश्व रूप का वध किया था तो किसी तरह से पाप बांटा चार जगह पर अब दूसरी बार फिर इसका वध करूंगा तो मैं इस हत्या को कहां बांटूंगा मैं नहीं करूंगा तब ऋषियों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए जितना पाप होगा यज्ञ करके हम लोग खत्म कर देंगे और इसको मारने पर तो पाप लगेगा ही नहीं ये तो खल है <laughs> इतना चकाई कोई पाप नहीं लगेगा आश्चर्य की बात है वास्तव में ऋषि लोग ऐसे बोले और जब वृत्रासुर का वध हुआ तो इंद्र से पूछे भी नहीं ये भी नहीं कहे कि अच्छा कुछ दिन के बाद जग करेंगे चुपचाप चले गए मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं अब काम कर दिया बेचारे ने अब तो वो फंसेगा और ये लोग अब चले <laughs> भारत में गीत है इस तरह के गाते काम निकल गया तो पहचानते भी नहीं है तो इस कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी कुछ विस्तार से कहेंगे मैं यहीं पर विश्राम देना चाहता हूं क्योंकि कल के कथा के लिए कुछ बचेगा नहीं अगर <laughs> मैं इसको कह दू तो बहुत <laughs> छोटी कथा पड़ जाएगी तो आप लोग जो सुने हैं सुने हुए में कहीं ही अनुमोदन करें कथा का अनुमोदन किया जाता है तो कुछ लिख करके अगर लावें दो लाइन तो बहुत अच्छा होगा लिखा हुआ अपना पढ़े हम लोगों की कथा में यह एक परंपरा है परस्पर एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए कथा के विषय में कुछ लिखा जाता है वक्ता के विषय में एक शब्द नहीं लिखना चाहिए कथा जो सुने उसके विषय में लिखना चाहिए भागवत की तो इसको अनुमोदन कहते हैं तो आप लोगों से विनय है कि आप लोग मनन कीजिएगा ऐसे तो कल की कथा अभी बाकी ही है <laughs> लेकिन संक्षेप में मैं एक कह देता हूं कि भगवान इंद्र ने कहा कि मैं वध नहीं करूंगा वृत्रासुर का मैं नहीं करूंगा मैं जब विश्व रूप का वध किया था तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से मैं कितना दुखी था तो चार लोगों ने मुझ पर कृपा किया मैं पाप को बांटा 25-25 परसेंट तो उसमें स्त्री भू जल द्रुमय स्त्री भूमि जल और वृक्ष ये चार लोग पाप को बांट स्त्रियां सबसे पहले सामने आई इंद्र के कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां हीन होती हैं लेकिन इस अवसर पर जब देवराज इंद्र पर संकट आ गया था तो स्त्रियों ने आगे कदम बढ़ाया कि हम आपके दुख को बांटेंगे पुरुष लोग एक भी नहीं लिए <laughs> देखिए संसार को पालने वाले पर संकट आया था इंद्र वर्षा के इंचार्ज है वही वर्षा करते हैं तो हम लोग जीते हैं खाते हैं पीते हैं पशु भी जीते हैं घास खाकर उन पर संकट आ गया था कोई नहीं दूसरा साथ दिया स्त्रियों ने साथ दिया भूमि ने वृक्षों ने और जल ने साथ दिया तो भगवान इंद्र ने इनको वरदान दिया स्त्री स्त्रियों ने जब साथ दिया ठीक हम आपका चौथाई पाप स्वीकार करती है तो वही ब्रह्महत्या का दोष से चार दिन के पीरियड में प्रकट होता है इसी में भागवत में लिखा गया लेकिन स्त्रियों को भगवान इंद्र ने वर दिया है अच्छा वृक्षों को वर दिया उन्होंने वे लिए पाप तो वृक्षों को वर दिया कि तुम लोग काटने के बाद भी बढ़ोगे वृक्षों को काट दिया जाता है फिर भी बढ़ते हैं इंद्र ने वरदान दिया और जल को यह वरदान दिया कि किसी कुएं से गड्ढे से तुमको खींचा जाएगा फिर भी वो भर जाओगे तुम आ जाओगे और उसमें जो बुद्ध बुद्ध फेन है वो ब्रह्म हत्या है और भूमि को कहा कि कहीं भी गड्ढा खोदा जाएगा अपने आप कालांतर में तुम भर जाओगे <laughs> कुछ काल के बाद वो गड्ढा भर जाएगा तो पृथ्वी में जो ऊसर है बंजर भूमि वो है ब्रह्महत्या तो इस तरह से उन्होंने वरदान दिया जब ये पाप को स्वीकार किए तो भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं किसी तरह बांटा इन लोगों ने कृपा करके हमारे पाप को लिया तो वृत्र हत्या को मार्ज में हूं वृत्रासुर का वध करूंगा तो इस हत्या को मैं कहां बांटूंगा कौन लेगा तब ऋषियों ने कहा कि हम हैं ना हम यज्ञ कराएंगे अरे भगवान की पूजा करके आदमी विश्व की पूरी हत्या करके भी पाप से मुक्त हो जाता है अरे और यज्ञ की बात छोड़िए भगवान का एक नाम बोलने से सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस तरह भी लिंगली पाप करना नाम के बल पर <laughs> ये ऋषि लोग <laughs> नाम अपराध कर रहे थे कि भगवान के नाम लेने से कोई भी पापी तर जाता है मुक्त हो जाता है फिर हम लोग स्मेध जब करेंगे तो पाप कहा रह जाएगा आप चिंता मत कीजिए मारिए मत तो इन लोगों के उकसाने से इंद्र वध कर दिए और जब वध कर दिए तो ये सब लोग भाग गए अब इंद्र पर ब्रह्म हत्या लगी उनको खदेड़ रहे थे तो ये मान सरोवर में चले गए वहां कमल के छोटे से नाल में भीतर एक हजार वर्ष तक रहे यद्यपि अग्नि देवता इनके दूत हैं भोजन अग्नि के द्वारा प्राप्त करते हैं लेकिन जल के भीतर रह रहे थे अग्नि देवता जा नहीं सकते थे तो इनका भोजन नहीं पहुंच रहा था भोजन नहीं किए एक हजार वर्ष तो भगवान का जप करते रहे ध्यान करते रहे तो इस तरह एक हजार वर्ष के बाद इनका पाप दूर हुआ तो ये कथा मैं कल कहूंगा आज अगर थोड़ा समय है तो आप कोई प्रश्न कर सकते हैं प्रसंग के अनुसार प्रश्न होना चाहिए <laughs> हरे कृष्ण हम्म।